وسلموا تسليما صلى الله على النبي الأمي وآله صلى الله عليه وسلم صلاة وسلاما عليك يا سيدي يا سيدي يا سيدي या मक्की या मदनी या रसूल अल्लाह आइए हम उस दुआ को तीन मरतबा पढ़ते हैं कि जिसे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कसरत से पढ़ने की हमें तालीम दी या मुकल्लिब अलकलूब सबित कलबी अला दीनिक या मुकल्लिब अलकलूब सबित कलबी अला दीनिक ए दिलों को फेरने वाले हमारे दिल को तेरे दीन पर इस्तकामत अता फरमा या मुकल्लिब अलकलूब सबित कलबी अला दीनिक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह रब्बुल आलमीन हम सब की हाजिरी कबूल फरमाए और इस तहफ़ ईमान नशिश के सदक़े में रब्बुल आलमीन हमें ईमान की सलामती अता फरमाए आज हमारी ये छठी नशस्त है और इस तरह आज की नशस्त को मिलाकर हमारी सात नशस्तें बाकी हैं आज की नशस्त में हम इल्म गैब के मसले को तफसील से बयान करेंगे और ये एक अहम तरीन नशस्त है ये आप अपने जहन में रखें कि ये कोई वाज बयान या तकरीर की नशस्त नहीं बल्कि ये क्लास है तो इसमें बाज़ बातें मुश्किल होती हैं जिस तरह क्लास में तालब इल्म अगर तवज्जो रखता है तो बातें समझ में आती हैं वरना उसकी समझ में बातें नहीं आती सबसे पहले लफ्ज गैब की डेफिनेशन कि गैब किसे कहते हैं पुराने मजीद फ़ान हमीद में इशाद है आलिमगैबी व शहादा अल्लाह गैब को भी जानने वाला है और शहादा को भी जानने वाला है इसका आसान तर्जमा हम यूं कर सकते हैं कि अल्लाह जाहिर को भी जानने वाला है और पोशीदा बातों को भी जानने वाला है शहादा जो है वो गैब की जिद है यानी जब आप गैब की तारीफ समझ लेंगे डेफिनेशन समझ लेंगे तो आपको फिर शहादा की डेफिनेशन भी समझ में आ जाएगी गैब के लफ्जी माना है छुप जाना लेकिन इस्लामी डेफिनेशन में गैब उसको कहते हैं कि इंसान अपने हवा से खमसा और अकल से उसे ना जान सके हवा से खमसा से मुराद है आँख और देखने की क़वत कान सुनने की क़वत नाक सूंघने की क़वत जबान चखने की कुवत हाथ छूने की कुवत तो पांच हवास है जिन्हें हवा से खमसा कहते हैं तो जो चीज आंख से देखी जा सके जो कान से सुनी जा सके जो नाक से सूंगी जा सके जो जबान से चखी जा सके और जो जिसम से छू कर महसूस की जा सके उसे गैब नहीं कहते तो गैब किसे कहते हैं जो हवा से खमसा से मालूम ना हो सके तो जो चीज आंख से देखी जा सके वो गैब नहीं जो कान से सुनी जा सके वो गैब नहीं जो नाक से सूंघी जा सके वो गैब नहीं जो जबान से चखी जा सके वो गैब नहीं जो जिसम से छू कर महसूस की जा सके वो गैब नहीं फिर ये भी याद रखें कि हवा से खमसा एक तो नॉर्मल हवा से खमसा है और एक है कि आलात की मदद से हवा से खमसा की कुत में इजाफा होता है एक तो है नॉर्मल हवा से खमसा एक आम आदमी की आंख एक आम आदमी का कान एक आम आदमी की जबान एक आम आदमी का नाक एक आम आदमी की छूने की कुत ये तो है नॉर्मल और दूसरा है कि साइंसी आलात की मदद से इंसान अपनी इन कुतों में इजाफा कर सकता है मसलन उसने आंखों पर दूरबीन लगा ली अब दूरबीन की मदद से वो बाज वो चीज़ें देख सकेगा जैसे नॉर्मल आंख में वो नहीं देख सकता उसने खुर्दबीन लगा ली तो खुर्दबीन से वो बारीक बारीक वो कीड़े और जरासीम वो देख सकेगा जो आम आंखें नहीं देख सकते तो ये भी हवा से खमसा ही है ये भी आंख की ही कुत है आलात की मदद से उस कुत में इजाफा किया गया ये भी गैब नहीं है जरासीम को देखना वायरस को देखना बैक्टीरिया को देखना या दूरबीन से दूर दराज सैारे को देखना ये कोई गैब नहीं है नॉर्मल आंख से देखे या आलात की मदद से किसी चीज को देखे एक आम आदमी किसी के पेट पर नजर डाले या किसी के सीने पर नजर डाले तो उसे अंदर नजर नहीं आता लेकिन अल्ट्रासाउंड मशीन के जरिए वो अंदर देख सकता है तो ये भी गैब नहीं है क्योंकि इसमें मशीन का वास्ता है और आंख से ही इंसान देखता है तो इसे यही कहेंगे कि देखने की कुत को मशीन के जरिए बढ़ाया गया इसी तरह सेटेलाइट है इंटरनेट है टी वी की क़वतें हैं मोबाइल फ़ोन की क़वतें हैं इलेक्ट्रॉनिक क़वतें हैं तो जितनी भी ये क़वतें हैं ये सब आलात के हुक्म में है और इनके ज़रिए इंसान या तो अपनी देखने की सलाहियत को बढ़ाता है या कान की सलाहियत को बढ़ाता है कोई अमरीका में गुफ्तु कर रहा है और हम मोबाइल फ़ोन के ज़रिए सुन रहे हैं तो बीच में वास्ता कौन सा है आलात का वास्ता है तो ये गैब नहीं है तो गैर के लिए शर्त यह है कि वो चीज जो हवा से खमसा से मालूम ना की जा सके और आलात की मदद से भी मालूम ना की जा सके दो चीजें हो गई तीसरी चीज जो चीज अकल से ना जानी जा सके मसलन आपने धुएं को देखा आग को तो आपने नहीं देखा आपने देखा किसको है धुएं को लेकिन आपकी आंखों की कुत ने तो धुएं को देखा है लेकिन धुआं देखकर आपकी अकल ने आपको बताया कि पीछे आग जरूर लगी होगी तो ये आग का जानना आंखों से देखने से नहीं है आग का जानना अकल से है तो ये भी गैब नहीं है जो चीज अकल से समझी जा सके यानी इंसान अपनी अकल की कोशिशों से दो तीन नतीजों को मिलाकर कोई नतीजा निकाल ले और जो चीज हवा से खमसा से जानी जा सके या आलात की मदद से और हवा से खमसा की मदद से जानी जा सके वो गैब नहीं है इसके अलावा जितनी चीजें हैं वो इंसान के लिए गैब हैं तो गैब की डेफिनेशन मेरे ख्याल से वाज हो गई तो जो चीज गैब नहीं वो शहादा है यानी आंख से हम जो देखते हैं कान से जो सुनते हैं नाक से जो सूंघते हैं जबान से जो चखते हैं जिसम से जो छूते हैं आलात की मदद से जो कुछ जानते हैं अकल से जो चीज जानते ये शहादा है और जो इन चीजों से मालूम ना हो सके वो गैब है अब सवाल यह है कि अल्लाह सिर्फ क्या गैब का आलिम है कि शहादा का भी आलिम है बताइए आलिमुल गईबी व शहादती बोले जोर से तो जिस तरह अल्लाह गैब का आलिम है शहादा का भी आलिम है अब सवाल सिर्फ यहां पर यह है कि शहादा के मुतालिक तो सभी जानते हैं कि हम भी जानते हैं तो फिर आलिमुल गैबी व शहादा इसकी फिर माना क्या करेंगे तो इसके माना ये है हकीकी तौर पर जानने वाला सिर्फ अल्लाह है क्या माना होंगे और हम जो जानते हैं वो अल्लाह की अता से जानते हैं शहादा किसे कहते हैं उस इल्म को कि जो हवा से खमसा से या आलात की मदद से या अकल से जान सकें उसका भी हकीकी तौर पर जानने वाला कौन है अगर अल्लाह ना चाहे तो क्या हमारी आंख किसी चीज को देख सकती है अल्लाह ना चाहे तो हमारा कान सुन सकता है तो शहादा का भी हकीकी आलिम सिर्फ और सिर्फ अल्लाह है और जिसे जो शहादा का इल्म मिला वो अल्लाह की अता से मिला इसी तरह गैब का भी हकीकी आलिम सिर्फ और सिर्फ अल्लाह है और गैब का इल्म भी जिसको भी मिला वो अल्लाह की अता से मिला मगर शहादा का इल्म वसाइल से हासिल हो जाता है अकल से आंखों से कान से नाक से जबान से छूने से लेकिन गैब का इल्म बगैर जरिए के हासिल होता है यानी गैब का इल्म जो है वो हम इन आलात की मदद से हासिल नहीं कर सकते वो सिर्फ व सिर्फ महज अल्लाह का फजल है बिना वास्ता अल्लाह तबारक व ताली पहले नबियों को अता फरमाता है और फिर नबियों के वास्ते से अल्लाह ताला वलियों को अता फरमाता तो गैब और शहादत का हकीकी जानने वाला सिर्फ अल्लाह है शहादत का इल्म हो कि गैब का इल्म मसला एक ही है कि अल्लाह के बताए बगैर कोई नहीं जान सकता फर्क सिर्फ इतना है कि शहादा के इल्म के लिए अल्लाह ने जराए और वसाइल पैदा किए हैं हम अपनी आंख से जान लेते हैं कान से जान लेते हैं लेकिन गैब के लिए अम्बिया के लिए डायरेक्ट वही इलाही है और अलिया के लिए अम्बिया के वास्ते से अल्लाह उनके दिलों पर इल्का फरमाता है ये तमाम मुसलमानों का अकीदा है अब दूसरा मसला यह है कि नबी अक्रम सल्लल्लाहु वसलम को अल्लाह ने गैब का इल्म दिया तो हजूर को गैब का इल्म दिया इससे कोई मुसलमान इनकार कर ही नहीं सकता क्योंकि जो इनकार करेगा वो काफिर हो जाएगा हाँ मकदार के ऊपर कलाम हो सकता है कितना दिया इस जुमले पर गौर करें कोई इस पर कलाम कर सकता है कि अल्लाह ने कितना इल्म दिया इतना दिया इस चीज का इल्म था इस चीज का इल्म था लेकिन जो कहे कि गैब का बिल्कुल भी इल्म नहीं दिया वो काफिर हो जाएगा क्यों इसलिए ये बताइए कि जिबरील को आप अपनी आंख से देख सकते हैं कान से जिब्रील की आवाज सुन सकते हैं नाक से सूंघ सकते हैं जबान से चख सकते हैं छू कर महसूस कर सकते हैं या अकल से जिब्रील को जान सकते हैं तो जिब्रील का देखना यह गैब है कि नहीं तो आप बताइए कि रसूलुल्लाह ने जिब्रील को देखा कि नहीं पहली वही जो नाजिल हुई तो हुजूर ने फरमाया मैंने जिब्रील को देखा और जिब्रील से मुलाकात की तो जो कहता है कि हुजूर को गैबी हासिल नहीं तो वो गोया के मुकम्मल गैर का इनकार करेगा तो इसने गोया कि यह मान लिया कि हुजूर ने जबरील को भी नहीं देखा हजूर ने फरिश्ते का कलाम भी नहीं सुना और इसी तरह ये बताइए कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें कबर के सवाब और अजाब का जिक्र किया कब्र खोदिए किसी की आप क्या अपने हवा से खमसा से आलात से या अकल से अजाब कबर या सवाब कबर को महसूस कर सकते हैं बताइए और गैब की तारीफ क्या बताई कि गैब की तारीफ यह है कि हवा से खमसा से आलात से और अकल से बंदा ना जान सके वो गैब है तो अजाब कबर और सवाब कब्र गैब हुआ कि नहीं ये बताइए कोई यहां बैठे बैठे क्यामत के मंजर को देख सकता है या क्यामत के बारे में मालूम हासिल कर सकता है रसूल्ला के बताए बगैर तो रसूल सल्लल्लाहु वसलम ने इस बात का इल्म अपनी उम्मत को दिया तो ये इल्म हुजूर को आता था या नहीं था था और ये सब क्या है गैब है तो इसलिए दुनिया के अंदर कोई एक भी ऐसा मुसलमान नहीं कि जो ये कह सके कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह ने बिल्कुल भी गैब की एक बात भी ना बताई जो ये कहेगा तो वो तो मुसलमान ही ना होगा काफिर होगा हाँ बहस जो की जाती है वो इस पर की जाती है कि अल्लाह ताला ने हुजूर को गैब का इल्म कितना दिया बास कहते हैं कि अल्लाह ताला ने हुजूर को गैब का इल्म इतना ही दिया था जितना हुजूर ने हदीस पाक में बताया जो आपने क़यामत का बताया क़यामत के बाद के वाकयात बताए जन्नत और जहन्नम का जो जिक्र किया और इसी तरह आपने जो कब्र के हालात बताए आपने जो मुस्तबिल के बारे में बताया कि ये होगा ये होगा ये होगा तो उनका अकीदा यह है कि जितना हुजूर ने बता दिया हजूर के पास इतना ही था बस इतना ही आपका इल्म गैब है और इससे ज्यादा वो मानने को तैयार नहीं लेकिन अगर आप कुरान हदीस के दलाइल पर गुफ्तु करें तो कुरान हदीस से इससे भी कई ज्यादा हजूर का इल्म गैब जो है वो साबित होता है अब हम अपनी इस क्लास को आगे बढ़ाने से पहले हम चंद अहम बातों की दोहराई करेंगे ताकि देर से आने वाले वो हमारे साथ चल सकें पहली बात यह कि गैब का भी आलिम अल्लाह है और शहादा का भी आलिम अल्लाह है आलिमुल गईबी व शहादा जो चीज हवा से खमसा से यानी आंख कान जबान नाक और हाथ और जिसम की क़ुतों से जो चीज महसूस की जा सके या आलात की मदद से जो चीज जानी जा सके या अकल से जो चीज खुद ब खुद समझ में आ जाए वो शहादा है वो क्या है और इसके अलावा तमाम चीजें गैब हैं तो गैब भी अल्लाह ही जानने वाला है और शहादा भी अल्लाह ही जानने वाला है हम मुसलमानों का अकीदा यह कि हकीकी तौर पर जानने वाला अल्लाह है गैब का इल्म मिला तो अल्लाह की अता से मिला और शहादा का इल्म अगर हमें मिला तो किसकी अता से मिला अल्लाह की अता से फर्क सिर्फ ये है कि शहादा के इल्म के लिए अल्लाह ने हमें हवा से खमसा दिए हमें अकल दी इसकी मदद से और आलात की मदद से हम इस इल्म में इजाफा कर सकते हैं मगर देने वाला कौन है अल्लाह लाखों आंखें हों और अल्लाह ना चाहे तो कुछ नजर ना आए और जहां तक गैब का ताल्लुक है तो दुनिया में कोई ऐसा जरिया नहीं है कि इंसान अपनी आंख से या कान से या आलात की मदद से किसी चीज को जान सके कबर पर कितने भी आलात लगा दिए जाएं साइंसी कितने भी आलात लगा दिए जाएं कब्र के सवाब और अजाब को इंसान देख नहीं सकता महसूस नहीं कर सकता जब तक कि अल्लाह ना दिखाए और अल्लाह चाहे जिसको दिखाना चाहे दिखा देता है तो ये आलम गैब से है तो आलम गैब का ताल्लुक ये है कि अल्लाह जिस पर चाहता है खोल देता है नबियों को अल्लाह डायरेक्ट अता फरमाता है और वलियों को अल्लाह नबियों के वास्ते से अता फरमाता है ये अलहमदिल्ला बातें हमने समझ ली और तीसरा जो पॉइंट अहम है वो ये है कि कोई भी मुसलमान ये नहीं कह सकता कि अल्लाह ने हुजूर को गैब की एक भी बात न बताई अगर ये कहेगा तो काफिर हो जाएगा क्योंकि कब्र के मामला भी गैब हैं क़यामत के मामला भी गैब हैं जहन्नम और जन्नत के मामला भी गैब हैं शब महराज के सारे वाकत गैब हैं और हजू सल्लल्लाहु वसलम ने क़यामत तक जो मालूम मुसलमानों को दी ये होगा ये होगा ये होगा सारे आइंदा के वाकत हैं गैब हैं ये हवा से खमसा से मालूम नहीं हो सकते आलात से मालूम नहीं हो सकते अपनी अकल से मालूम इंसान नहीं कर सकता जब तक कि खबर न दी जाए जबरील को देखना फरिश्तों को देखना अल्लाह के कलाम को सुनना अल्लाह का दीदार करना सब क्या है गैब है तो ये तो तमाम मुसलमान मानते हैं कि अल्लाह तला ने अपने हबीब को ये सारी चीज़ें अता फरमाईं मतलब यह हुआ कि गैब हुजूर को अल्लाह ने दिया मगर जो इख्तलाफ किया जाता है वो किस बात पर बाज कहते हैं बस इतना ही दिया इससे ज्यादा कुछ भी ना दिया लेकिन कुरान और हदीस के दलाइल आपके सामने भी पेश होंगे जिससे ये जाहिर होता है कि हजूर को इसके अलावा भी अल्लाह ताला ने इल्म गैब के कई खजाने अता फरमाए मगर यहां पर चंद बातें याद रखना बहुत जरूरी है आप कहते हैं अल्लाह रहमान है रहमान के माना क्या है बहुत ज्यादा रहम करने वाला माना बताएं इसके हम कहते हैं अल्लाह अज्ज व जल्ला इज्जत वाला जलाल वाला अल्लाह ताला बुलंदो बाला अल्लाह जल्ला जलालू अल्लाह जिसकी जलालत अजीम है ये अल्फाज जो हैं हम अल्लाह ही के लिए बोलते हैं अल्लाह के सिवा हम किसी को रहमान नहीं कह सकते अल्लाह के सिवा किसी के नाम के आगे ताला जल्ला जलालो अज व जल्ला नहीं लगा सकते ये अल्फाज खास हैं किसके लिए अल्लाह के लिए लेकिन इसका ये मतलब नहीं कि अज्जा व जल्ला इज्जत वाला अल्लाह है तो अल्लाह की अता से किसी को इज्जत ही नहीं मिली इसका यह मतलब नहीं जब हम कहते हैं कि मोहम्मद अजब जल्ला कहना गलत है तो इसके ये मना नहीं कि हुजूर की इज्जत नहीं या जलाल नहीं हुजूर की जलालत भी है और इज्जत भी है लेकिन ये लफ्ज हुजूर के लिए इस्तेमाल करने की इजाजत नहीं है सिर्फ अजब अजल किसके जो किस लफ्ज के आगे लगेगा अल्लाह इसी तरह जब हम कहते हैं कि रहमान सिर्फ अल्लाह को कह सकते हैं तो इसका ये मतलब नहीं कि हुजूर रहम करने वाले नहीं है अल्लाह की अता से वो रहम करने वाले तो हैं लेकिन ये लफ्ज रहमान खास किसके लिए अल्लाह के लिए इसी तरह हम कहते हैं अल्लाह ताला तो हुजूर के नाम के आगे ताला नहीं लगा सकते इसका यह मतलब नहीं कि हुजूर बुलंद बाला नहीं है अल्लाह की अता से सारी मखलूक में सबसे बुलंद बाला हुजूर ही है मगर ताला नहीं लगा सकते इसलिए कि यह ताला लफ्ज किसके साथ खास है अल्लाह के लिए जब आपने यह समझ लिया तो ये समझ लें कि हजूर सल्ला वसलम को अल्लाह ने इल्म गैर के खजाने अता फरमाए बेशुमार खजाने अता फरमाए जिसका जिक्र हम इंशाल्लाह सुनेंगे अहादी से सही और कुरान की आयतों की रोशनी में मगर हजूर को आलिमुल गैब नहीं कह सकते ये मसला याद रखें आलिमुल गैब सिर्फ और सिर्फ अल्लाह ताला है आलिमुल गैब सिर्फ अल्लाह ताला के लिए ये सिफत इस्तेमाल की जा सकती है हम कह सकते हैं अल्लाह आलिमुल गैब है इसका हरगिज ये मतलब नहीं कि हम कहें कि हजूर आलिमुल गैब नहीं हुजूर का आलिमुल गैब नहीं कह सकते तो इसका मतलब यूं नहीं है कि हजूर को गैब का इल्म अल्लाह ने नहीं दिया बल्कि इसका मतलब इसी तरह है जिस तरह हजूर बुलंद वाला है मगर हजूर को ताला नहीं कह सकते अज्जा वजल्ला नहीं कह सकते रहमान नहीं कह सकते तो इसी तरह हजूर सल्ला अलैहि के लिए लफ्ज आलिम गैब नहीं लगा सकते क्योंकि आलिम गैब ये खास है अल्लाह के लिए और इसके माना जो महकिन ने किए वो ये किए आलिम गैब वो ज़ात कि जिसका इल्म ज़ाती हो तो हजूर का इल्म ज़ाती नहीं बल्कि क्या है अताई है आलिम गैब वो ज़ात है जिसका इल्म लामहदूद हो गैर मुतनाही जिसका कोई किनारा ना हो हमेशा हमेशा से हो हमेशा हमेशा रहे और जिसके अव्वल आखिर को हम बयान न कर सकें और हजू सल्लल्लाहु वसलम का इल्म जो है वो गैर मुतनाई लामहदूद नहीं है उसकी हम इब्तदा भी बताते हैं और इंतहा भी बताते हैं यानी हजू सल्ला वसलम का इल्म कहाँ से कहाँ तक है यह से तैयबों में बयान किया गया तो अल्लाह ताला का इल्म क्या है वो लामहदूद है गैर मुतनाही है ज़ाती है हमेशा हमेशा से है तो आलिमुल गैब का लफ्ज किसके लिए इस्तेमाल होगा जिसका इल्म जाती हो हमेशा हमेशा से हो और लामहदूद हो इसलिए आलिम गैब सिर्फ और सिर्फ अल्लाह की जात जब हमने ये समझ लिया तो अब ये भी समझ लें कि जो लोग कन्फ्यूज होते हैं कुरान हदीस के दलाइल में वो इसलिए कन्फ्यूज होते हैं कि कहीं कहीं लिखा होता है कि आलिम गैब सिर्फ अल्लाह है तो वो इसका मतलब नहीं समझते वो ये समझते हैं कि गैब अल्लाह ने अपने बंदों को दिया ही नहीं तो आलिम गैब सिर्फ अल्लाह है और आलिम गैब अल्लाह ही को कह सकते हैं क्योंकि आलिम गैब के माना क्या है जिसका इल्म जाती हो हमेशा से हो और जिसका इल्म लामहदूद हो तो इसलिए वो तमाम दलाइल जो कुरान और हदीस से पेश किए जाते हैं कि भाई आलिम गैब सिर्फ अल्लाह है तो वो तो हम मुसलमान भी मानते हैं कि आलिम गैब सिर्फ अल्लाह है लेकिन जिस तरह हमने कहा कि रहमान सिर्फ अल्लाह है लेकिन क्या हुजूर रहम करने वाले हैं कि नहीं बताइए हैं तो इसका ये मतलब थोड़ी कि अल्लाह रहमान है तो इसका मतलब ये लिया जाए कि हुजूर रहम नहीं करते हुजूर भी रहम करते हैं लेकिन हुजूर को रहमान कहने की इजाज़त हमें शरीयत ने नहीं दी क्योंकि रहमान के माना भी यही है कि जिसकी रहमत हमेशा से हो हमेशा रहे लामहदूद हो और जिसकी रहमत ज़ाती हो ये मसला अल्हम्दुलिल्लाह हमने समझ लिया दूसरा मसला अहम यह है कि जब ये कहा जाए कि हुजूर के पास इल्म गैब है तो बेहतर यह है कि साथ में ऐसा लफ्ज भी कहा जाए जिससे महसूस हो कि हम अताई का जिक्र कर रहे हैं क्या महसूस हो हम इल्म अताई का जिक्र कर रहे हैं इल्म जाती का जिक्र नहीं कर रहे यानी यह नहीं कहना चाहिए कि हुजूर के पास इल्म गैब है ये कहना मकरू तंजीही है बल्कि अफजल और मुस्तहब तरीका यह है कि अल्लाह ने हजूर को इल्म गैब दिया तो अब देखें इस लफ्ज में अताई का जिक्र मौजूद है जैसा कि आपको मैं आला हजरत इमाम अल सुन्नत के हवाले से बात करूं पहले तो देखें आला हजरत का अकीदा इल्म गैब के बारे में क्या है झूठ फ्रॉड की कहानी है अंग्रेजों के दौर में अंग्रेज ये कहते हैं कि झूठ इतना बोलो इतनी कसरत से बोलो कि लोग उसे सच्चा समझने लगे तो आला हजरत पर भी इतने झूठे इल्ज़ाम लगाए गए कि लोगों ने उनकी किताबें पढ़ने के बजाय उन इल्ज़ाम पर यकीन करना शुरू कर लिया तो अंग्रेजों का ये मकूला है कि झूठ इतना बोलो इतनी कसरत से बोलो कि लोग उसे क्या समझने लगे सच्चा समझने लगे जैसे एक झूठी मूवी चलाई गई थी कि जिसमें एक औरत को कोड़े मारे जा रहे हैं ये जियो ने 18 घंटे चलाई थी अट्ठारह घंटे तक मुसलसल इसी को दिखाता रहा ये अंग्रेजों का वही प्रोपेगेंडा था कि झूठ को इतना दिखाओ कि लोग उसे क्या समझने लगे यकीन समझ उसे उस पर यकीन करने लगे फिर क्या किया फिर उस मीडिया के इदारे ने ना तो अपनी गलती को तस्लीम किया ना कौम से माफी मांगी कि हमने एक झूठी मूवी चलाई एक आधे घंटे का प्रोग्राम कर लिया और उसमें कहा कि यह मूवी झूठी थी अब बताइए कि जिसने ये झूठी मूवी बनाई उसको क्या सजा मिलनी चाहिए तो सारे मुकर्रीन कहने लगे इसको ये सजा होनी चाहिए ये सजा होनी चाहिए लेकिन किसी ने यह नहीं कहा कि जिसने बनाई थी उसको तो जो सजा मिलनी है मिले लेकिन ये सबको दिखाई किसने बगैर तहकीक के जियो ने दिखाई तो इसको बंद होना चाहिए इसको सख्त सजा मिलनी चाहिए इस पर किसी मुकर्र ने जियो पर आकर कलाम नहीं किया तो कहने का मकसद ये कि लोगों में एक पूरी दुनिया के अंदर एक हवा बन गया और इसको इस अंदाज में लिया गया कि भाई पाकिस्तान में तो औरतों की यह हालत है कि पकड़ पकड़ के रोड पे मार रहे हैं हालांकि ऐसा क्या है हमारे मुल्क में हमारे मुल्क में जितनी औरतों की इज्जत है आपको कई ममालिक में ऐसी इज्जत औरतों की जो है नहीं मिलेगी तो कहने का मकसद ये कि आला हजरत इमाम अहल सुन्नत के खिलाफ एक झूठा प्रोपेंडा किया गया और कहा कि आला हजरत हजूर का इल्म अल्लाह के बराबर समझते हैं तो हम ये चैलेंज करते हैं ये हमारा चैलेंज है कि आला हजरत की किसी एक किताब से भी एक जुमला भी ऐसा दिखा दो कि जिससे ये साबित होता हो कि आला हजरत ने हुजूर के इल्म को अल्लाह के बराबर माना है ये झूठ है देखें आला हजरत इमाम सुन्नत आप की एक इबारत में पढ़ के सुनाता हूं फतावा रजिया शरीफ यह आला हजरत का वो फतवा है कि इस वक्त इसकी तकरीबन तैंतीस जिल्दें हैं थर्टी थ्री तैतीस जिल्दों में फतावा रजिया शरीफ रजा फाउंडेशन ने शाया किया है और ये तहकीक से बात साबित है कि नबे फीसद आला हजरत के फतावे ज़ाया हो गए ये सिर्फ दस फीसद है क्योंकि गुर्बत इस कदर थी जो इनके मुखालिफ थे उनके पास अंग्रेज़ों की दौलत थी तो उनका तो छोटा सा रिसाला भी छप जाता था आला हजरत इमाम सुन्नत ने एक हज़ार से ऊपर किताबें लिखी वो रखी रखें यहां तक कि बहुत सारा हिस्सा जो है दीमक खा गई और बहुत सारे ऐसे सफात हैं कि जिस पर तहरीर पढ़ें तो वो इंक जो उस जमाने की जो इंक थी आप जानते हैं कि अगर कागज इसी तरह पड़ा रहे तो उसकी इंक जो है उड़ जाती है तो आप फतवा रजिया शरीफ ये तैंतीस जिल्दे पढ़े आपकी आंखों से आंसू जारी होगा इतना अहम फतवा होता है दो सफ़े के बाद लिखा होता है कि आगे ये फतवा दस्तियाब नहीं हो सका तो आला हजरत इमाम अल सुन्नत ने इस गुर्बत के अंदर एक हुजरे में बैठकर पूरी दुनिया के अंदर मसल के अहल सुन्नत वल जमात का दिफा किया और एक हुजरे में बैठकर आपने जो किताबें लिखी हैं आला हजरत ने जितनी किताबें लिखी हैं आज तक दुनिया वो सारी किताबें छाप भी नहीं सकी और इस वक्त वो सारी किताबें मौजूद भी ना रही सकें क्योंकि दीमक खा गई वो उड़ गया और जितना मौजूद है आज तक वो जो है छप नहीं सका सिर्फ आप सोचें कि फतेह रजिया शरीफ तैंतीस जिल्दों में छपा है वो एक किताब है तो आला हजरत की तो हजार से ऊपर किताबें आला हजरत डेढ़ घंटा आराम फरमाते हैं पूरे दिन में चंद लुक में खाना खाते सारा सारा दिन बैठकर कादियानियों अंग्रेजों यहूदियों ईसाइयों तमाम बातिल अदियान जो एतराज करते उनके जवाब लिखते कुरान हदीस की रोशनी में तो फतह रजविया शरीफ पंद्रहवीं जल्द सफा नंबर 377 उस पर आला हजरत क्या लिखते हैं एक तो ये बात मशहूर की गई कि आला हजरत हुजूर के इल्म को अल्लाह के इल्म को बराबर समझते हैं लेकिन आला का अकीदा देखें बिलाशुबा हक यही है कि तमाम अम्बिया व मुरसलीन मलाइका मुकर्रबीन अव्वलीन आखरीन के उलूम मिलकर भी यानी तमाम रसूल तमाम नबी तमाम फरिश्ते अव्वल से आखिर तक सारी मखलूक का इल्म मिलकर भी इल्म बारी ताला से यानी अल्लाह तला के इल्म से वो नस्बत नहीं रख सकते जो एक बूंद के करोड़वें हिस्से को करोड़ों समंदरों से है यानी एक तरफ करोड़ों समंदर हो और दूसरी तरफ एक बूंद का करोड़वा हिस्सा एक तरफ करोड़ों समंदर है दूसरी तरफ क्या है एक कतरे का एक बूंद का करोड़वा हिस्सा तो इन दोनों के दरमियान क्या नस्बत है फरमाया ये नस्बत भी मखलूक और अल्लाह के इल्म के दरमियान नहीं सारे नबियों सारे रसूलों सारे फरिश्तों सारी मखलूक का इल्म मिलकर भी अल्लाह के इल्म के मुकाबले में यह नस्बत भी नहीं रखता किसने कहा अला हजरत इमाम अल सुन्नत ने लानतल्लाकाजीबीन झूठों पर खुदा की लानत हो कि जिन्होंने इस अजीम इमाम के खिलाफ ऐसा प्रोपागेंडा किया फिर क्या फरमाते हैं फतेह रजिया शरीफ उनतीसवीं जिल्द सफा नंबर 407 बिना शुबा जो गैर खुदा को यानी अल्लाह के अलावा किसी के लिए भी बेअताए इलाही खुद ब खुद इल्म माने कतअन काफिर है और जो इसके कुफर में शक करे वो भी काफिर यानी इल्म गैब हो कि इल्म शहादत वो अल्लाह की अता से ही मालूम होता है जो कहे कि अल्लाह के दिए बगैर कोई एक जर्रा भी सीख सकता है तो फरमा वो काफिर है क्योंकि इल्म ज़ाती किसका खादसा है अल्लाह का खासा अब मसला ये था अभी बात यह चली कि जब हम गैब की नस्बत करेंगे तो हम ये नहीं कहेंगे कि हजूर को इल्म गैब है ये कहना भी कुफर नहीं है लेकिन ज्यादा बेहतर जुमला क्या है अल्लाह ने हजूर को इल्म गैब दिया ताकि वाज हो जाए कि हम कौन सा अकीदा मानते हैं अताई मानते हैं ये मैंने अपनी तरफ से बात नहीं कही इमाम अहल सुन्नत आला हजरत फरमाते हैं फतवा रजिया शरीफ उनतीसवीं जिल सफर नंबर चार सौ छह आप फरमाते हैं अम्मा इदा कैदा वकीला आलमबा औ अतल आहू औ अतल आहू अलही फला महजूर रफ़ी यानी गोया का ये फरमा रहे हैं ज्यादा बेहतर तरीका यही है कि इस तरह कहा जाए आलम गईबा अल्लाह ने हुजूर को गैब सिखाया या अल्लाह ने हुजूर को गैब पर इतला दी गैब का इल्म दिया ये कहना ज्यादा अफजल आला है तो दो मसले मालूम हुए कि आलिम गैब सिर्फ अल्लाह की ज़ात है दूसरा मसला कि हुजूर का जितना भी इल्म मान लें तमाम अव्वलिन और आखरीन का इल्म मिलकर अल्लाह के बराबर तो क्या कोई नस्बत ही नहीं है क्योंकि महदूद और गैर महदूद ज़ाती और अताई में कोई नस्बत होती नहीं और तीसरा मसला कि बेहतर तरीका यह कि यह कहा जाए कि अल्लाह ने हजूर को इल्म गैब अता फरमाया और ये जो मसला भी आपको अर्ज किया कि आलिम गैब सिर्फ अल्लाह को कहा जाए यह भी आला हजरत ने लिखा है और यह मसला बुजुर्गान दीन के अकवाल से साबित किया फतेह और रजिया शरीफ उनतीसवीं जिल सफ़ा नंबर चार सौ पांच अला हजरत इमाम अहल सुन्नत इमाम अहमद रजा फरमाते हैं हजूर अकदस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कतअन बेशुमार हयूब माँ कानो व माँ यकून के आलिम हैं मगर आलिमुल गैब सिर्फ अल्लाह अज्जल को कहा जाएगा मगर आलिमुल गैब सिर्फ अल्लाह अज्जल को कहा जाएगा जिस तरह हजूर अकदस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कतअन इज्जत जलालत वाले हैं तमाम आलम में उनके बराबर कोई अजीज व जलील न है न हो सकता है मगर मोहम्मद अज्ज वजल कहना जायज नहीं इसी तरह हुजूर को आलिमुल गैब कहना जायज नहीं बल्कि अल्लाह अज्ज वजल कहें और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहें इल्म गैब के मुतालिक हम यहां तक तो पहुंच गए थे कि कब्र का अजाब और सबाब क़यामत के मामला जन्नत जहन्नम की जो खबरें रसूल्ला ने दी हैं ये सब इल्म गैब की खबरें हैं और हर मुसलमान ये जानता है कि हजूर को अल्लाह ने यह इल्म दिया तो पता चला कि हजूर को अल्लाह ने गैब का इल्म दिया लेकिन क्या इसके अलावा हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसलम को गैब के ओलूम दिए गए तो इसके रद में एक आयत करीमा पेश की जाती है यानी इस पर एतराज करते हुए कि अल्लाह ताला फरमाता है इन अल्लाह बेशक अल्लाह के पास कयामत का इल्म है व था और वही बारिश बरसाता है व यालम माफिल अरहाम और वो जानता है जो कि माओ के पेट में है वमा तदरी नफ्स माजा तकसिब गदन और कोई जान नहीं जानती कि वो कल क्या करेगी वमा तदरी नफसुम भी अई तमो तमूतु और कोई जान नहीं जानती कि किस जमीन के हिस्से पर वो मरेगी इन अल्लाह खबीर बेशक अल्लाह इल्म वाला खबर देने वाला है सुर लुकमान आयत नंबर चौंतीस इस आयत करीमा को पेश करके ये तासर दिया जाता है कि पांच उलूम ऐसे हैं कि जो अल्लाह ने किसी को नहीं दिए नंबर एक क़यामत का इल्म बारिश बरसने का इल्म माओ के पेट में क्या है कोई जान कल क्या करेगी और कौन सी जान कोई जान कहां मरेगी ये पांच उलूम है जिन्हें उलूम खमसा कहते हैं और इस आय से ये तासर दिया जाता है कि अल्लाह की अता से भी कोई नहीं जानता अल्लाह ये इल्म किसी को नहीं देता लेकिन इस आयत करीमा में इसका बयान नहीं भाई तो सवाल यह है कि क्या पांच इल्म के अलावा और इल्म गैर नहीं है पहला तो ये सवाल यहां पर पांच ही का जिक्र क्यों किया गया तो फरमा इसलिए जिक्र किया गया कि उस जमाने में लोग काहिनों नजूमियों के पास जाते थे और उनसे पूछते थे बारिश कब होगी मैं कहां मरूंगा कल क्या होगा कि लड़का होगा कि लड़की होगी वो इस तरह सवाल करते नजूमी जो है तुक्के मारते थे अगर तुक्का लग जाता था तो लोगों की नजर में वो नजूमी और काहिन मशहूर हो जाता था और कहते थे कि वो इन बातों को जानता है अल्लाह ताला ने इस आयत करीमा में उनका रद्द किया कि अल्लाह ने इन्हें ये इल्म नहीं अता फरमाया और ये ऐसी चीजें हैं और इसके अलावा जितनी भी गैब की चीजें हैं वो अल्लाह की अता के बगैर तो कोई इंसान जान ही नहीं सकता तो इसलिए फरमाया कि ये काहिनों के बाद नजूमियों के पास तुम ना जाओ जहां तक सवाल है कि क्या अल्लाह ताला अपने नबियों या वलियों को इन चीज़ों का इल्म देता है तो खुद इस आयत करीमा में है इन अल्लाह अलीम खबीर बेशक अल्लाह इल्म वाला भी है और खबर देने वाला भी है तो रद्द किस चीज़ का है ये जादूगर ये जिन्नात ये काहिन और नजूमियों के पास इन चीज़ों का इल्म नहीं है जहां तक ताल्लुक है क्या अल्लाह ताला इन चीज़ों का इल्म किसी को देता है तो देखें तफसीर सावी बड़ी मशहूर और मरूफ तफसीर है उसमें लिखा कि इससे मुराद ये हईसमिन ज़ाती हा ज़ाती तौर पर अल्लाह ही इन चीज़ों को जानता है वह अम्मा भी एलामिल्लाबदी फलामान यामिन हो कलम्बिया वलाउलिया उन्होंने कहा कि अगर अल्लाह किसी को अता करे जैसे अल्लाह नबियों और वलियों को इन चीज़ों का इल्म अता करता है तो इसमें कोई हरज वाली बात नहीं अल्लाह अता करना चाहे तो कर सकता है इसी तरह इबन कसीर जिसकी तफसीर इबन कसीर तो बड़ी मशहूर है वो लिखते हैं वला यालमुहा आहदन बादा इलामी तआला बिहा कोई इन पांच चीजों को नहीं जानता मगर वही जानता है जिसे अल्लाह सिखा दे तो अल्लाह सिखाए तो बंदा सीख सकता है फिर बहुत सारी ऐसी मिसालें हैं कि मसलन इब्राहिम सलाम को फरिश्तों ने हजरत इसहाक सलाम के पैदा होने की खबर दी हजरत जकरिया को फरिश्तों ने हजरत याहिया के पैदा होने की खबर दी हजरत मरियम को हजरत ईसा सलाम के पैदा होने की खबर दी तो बताइए ये भी वही तो है कि जो दुनिया में आने वाला है उसकी पहले खबर दे दी गई तो हम ये कहते हैं कि अल्लाह के बताने से फरिश्ते भी जानते हैं नबी भी जानते हैं वली भी जानते हैं और अल्लाह अगर ना बताए तो कोई भी नहीं जानता कुरान मजीद फ़ुकान हमीद की आयतों और अहादीस तयबा से जो बात साबित हुई वो बात अब बिल्कुल वाज है कि अल्लाह तबारक व ताली के बताए बगैर कोई कुछ नहीं जानता और अल्लाह जिसे जितना बताना चाहे वो उसकी शान है उसने अपने महबूब को बहुत इल्म अता फरमाया हजू सल्ला वसलम का इल्म वो लामहदूद और गैर मुतनाही नहीं ज़ाती नहीं हमेशा से नहीं बल्कि जब से अल्लाह ने दिया उस वक्त से है और वो भी बतदरीज है हजूर का इल्म क्या है बोले बतदरीज है बतदरीज का मतलब ये होता है कि अल्लाह ताला ने आपको सिखाया और जब आपका विशाल हुआ तो उस इल्म की तकमील हो चुकी तो अगर कोई ऐसा वाकया कोई साबित कर दे कि हजूर सल्लल्लाहु वसलम को उस वाक का इल्म नहीं था अबल तो पूरी तारीख में ऐसा कोई वाकया सराहतन मौजूद नहीं जिससे साबित किया जा सके कि हुजूर को इस बात का इल्म नहीं था लेकिन अगर कोई साबित कर दे कि हुजूर को इस बात का इल्म नहीं था तो मुसलमानों को कोई एतराज नहीं क्योंकि मुसलमानों का यकीदा नहीं कि पैदा होते ही सारा इल्म अल्लाह ने दे दिया बल्कि अल्लाह ताला ने आपको बतदरीज इल्म अता फरमाया तो अगर किसी बात का बिल फर्ज इल्म पहले नहीं था तो बाद में अल्लाह ताला ने अता फरमा दिया क्योंकि ये बात साबित है कि जब कुरान का नजूल मुकम्मल हुआ तो कुरान में अव्वलीन और आखरीन का इल्म है तो कुरान के नजूल के मुकम्मल होने के साथ साथ आपका अव्वलीन और आखरीन का इल्म भी क्या हुआ मुकम्मल हुआ देखें सही बुखारी किताब बद खल्क बाबू माजा फी कौल ताला वहु लदी यबदलखल्क सुमयद वहु अहमन आलही हदीस नंबर तीन हजार एक सौ बानवे थ्री 1192 وربا عيسى عن رقبة عن قيس بن مسلم عن طارق بن شهاب قال سمعت عمر رضي الله تعالى عنه يقول हजरत तारिक बिन शिहाब कहते हैं कि मैंने हजरत उमर को ये फरमाते हुए सुना काम फीन नबी सल्लल्लाहु अलैहि मकामन नबी अकरम सल्लल्लाहु हमारे दरमियान एक बार खड़े हुए फ़ाख बराना बस आपने हमें खबर दी अन बद इल खलकी हत्ता दखल आहल जन्नति मनाजिल व आहल नारी मनाजिल हमें खबर दी मखलूक की पैदाइश से लेकर क्यामत तक की यहां तक के जन्नती जन्नत में दाखिल हो गए और जहन्नमी जहन्नम में दाखिल हो गए हाफिजा जाली का मन हाफिजा हो वह नसीय मन नसीय हो इसमें से बाज बातें लोगों को याद रखी और बाज बातें लोग भूल गए तो दूसरी हदीस पाक में जिसको जितना ज्यादा याद रहा वो हम में उतना ही बड़ा आलिम है तो एक ही नशिस्त में रसूलुल्लाह ने अव्वलीन और आखरीन का इल्म अपने प्यारे साहबा कराम के सामने बयान किया अब एक नशिश कितने लम्हात की थी तो उसकी तफसील जो है इमाम मुस्लिम ने की अब मुस्लिम शरीफ की जो हदीस है उसका चैप्टर है वो किताबुल फितन फितन फितनों की जमा है किताबुल फितन और हदीस नंबर है सेवन टू सिक्स सेवन बाबू इखबार नबी सल्लल्लाहु वसल्लम फीमा यकून इला क़याम इमाम मुस्लिम ने चैप्टर कायम किया है जिसमें लिखा उस बात का बयान कि रसूलुल्लाह ने अवलीन और आखरीन का इल्म अपने साहबा कराम को अता फरमाया सल्ला बिना रसूल सल्लल्लाहु हजूर ने फजर की नमाज अदा फरमाई वह सईद अलमबरा फ़तबना हता हजरत जहर फिर मंबर पर तशरीफ फरमा हुए और हमें वास फरमाया यहाँ तक के जहर का वक्त हो गया फ नजला फसल्ला फिर आप नीचे तशरीफ लाए और जहर की नमाज अदा की सुम सईद अलमबरा फिर आप मंबर पर जलवा फरोज हुए फ़तबना हता हजरत असर फिर आपने बयान फरमाया यहाँ तक के असर का वक्त हो गया जुम्म नजल फसल्ला फिर आप नीचे तशरीफ फरमा हुए और नमाज असर आपने अदा की जुम्म सईद अलमबरा फिर आप मम्बर पर जलवा फरोज हुए फ़त बना हत्या गरबत शम्स यहाँ तक कि सूरज गुरूब हो गया तो ये कितने घंटे की नशिश थी फजर की नमाज से लेकर मगरब तक हजू ने कितना बताया अवलिन और आखरीन का इल्म दिया मखलूक की पैदाइश से लेकर कयामत वाक़ होने तक और क्यामत का वो दिन जो पचास हजार साल का दिन है और फिर जन्नती जन्नत में चले गए और जहन्नमी जहन्नम में चले गए वहां तक आपने इल्म की खबर दी फ़बरना बीमा काना व बीमा हुआ कायन इमाम मुस्लिम लिखते हैं कि साहबी कहते हैं बस रसूलुल्लाह ने हमें खबर दी जो हो चुका जो होने वाला है माँ काना व माँ यकून की खबर दी जो हो चुका जो होने वाला है आलमुना अहफजुना तो हम में सबसे बड़ा आलिम वो था कि जिसे सबसे ज्यादा ये बातें याद रहें अब मसला यहां पर यह आता है कि नशिश तो बड़ी है फजर से लेकर मगरब तक लेकिन इसमें इतनी तफसील से वाकयात को बयान करना कि साहबा कहते हैं कि हजू ने एक एक जुज बयान किया जितने परिंदे हवा में उड़ने वाले थे हर हर परिंदे का जिक्र किया हर हर चीज को बयान कर दिया तो सवाल यह है कि फजर से लेकर मगरब तक ये वक्त इस लिहाज से बड़ा मुख्तसर है कि इतने वाकयात इतने मुख्तर से वक्त में अवलिन आखरीन की बातें कैसे बताई जा सकती हैं तो अलामा ऐनी ने इसका जवाब दिया अलामा बदरुद्दीन महमूद ऐनी जिनका सन मिसाल है आठ सौ पचपन हिजरी अपनी जो शराब बुखारी है इनकी उमदतुल्कारी दसवीं जिल सफा नंबर पाँच सौ चवालीस और बुखारी की एक दूसरी शराह है जिसे शराह फतहुल बारी कहते हैं जिसे अलामा इबन हजर असकलानी ने लिखा और जिनका सन विशाल आठ सौ बावन हिजरी है ये भी अल्लामा ऐनी के दौर के हैं इन्होंने अपनी फतुल बारी जल्द छः सफ़ा नंबर पच्चीस पर यह बात लिखी और ये दोनों बुखारी की शराह फतुल बारी और उमदतुल्कारी पूरे आलम इस्लाम में पढ़ी जाती हैं और बुखारी इन्हीं शुरुआत की मदद से समझी जाती है तो फर्क सिर्फ यह है कि अलामा इबन हजर असलानी शाफही हैं तो शाफही हजरात इनकी शरह पढ़ते हैं और अलामा ऐनी जो है हनफी हैं तो हनफी हजरात इनकी शरह पढ़ते हैं लेकिन दोनों मुस्तनद बुजुर्ग हैं और उन्होंने शरह जो है बड़ी खूब लिखी है तो दोनों की शरह के अंदर ये हदीस जब लिखी गई तो ये सवाल उन्होंने उठाया भी कैसे फजर से लेकर मगरब तक इस मुख्तसर से वक्त में हर हर चीज की तफसील कैसे बताई जा सकती है तो कहते हैं फी दलालत अला अखबर फिल मजलिस वाहिदी बिजमी अहबाल मखलूक़ात मिन इब्तदाईहा इला इंतहाइया रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक ही मजलिस में मखलूक के सारे अहवाल शुरू से लेकर आखिर तक बयान कर दिए वफ़ी इरादी जाली का कुल्ली की फी मजलिस वाहिदिन और एक ही मजलिस में बयान कर दिया अमर अजीम मिन खबार आदती ये रसूलुल्लाह का मुआजा है कि मुख्तसर वक्त में इतनी तफसील बयान कर दे यानी हुजूर के लिए और साहब कराम के लिए अल्लाह ने वक्त को वसी कर दिया कि जैसे दुनिया के लिए एक लम्हा था कुंडी हिल रही है वजू का पानी चल रहा है बिस्तर गर्म है और रसूल्लाह सातों आसमान सातो जमीन जन्नत जहन्नम को मुलाजा करने के बाद अल्लाह का दीदार करके और आप वापस आ जाते हैं इसमें मस्जिद अकसा भी क्याम है मदीन मुनवरा की बस्ती में उतर कर दो रकान नफिल भी पड़े हैं मस्जिद अकसा में जाकर अम्बिया की इमामत भी की है अम्बिया से मुलाकातें की आसमानों में अम्बिया से मुलाकातें की ये कई सालों पर मुहित सफर है लेकिन अल्लाह तबारक व ताली ने आपके वक्त में कैसी बरकत अता फरमाई कि दुनिया के लिए वो एक लम्हे से कम और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए वो वक्त वसी कर दिया गया तो इसी तरह यहाँ भी यही मामला है कि ये हुजूर का मुआवजा है कि अल्लाह ने आपके लिए और आपके सदके में आपके साहबा कराम के लिए इस वक्त को वसी कर दिया और इसकी दलील एक और भी है बुखारी शरीफ किताब तफसीर हदीस number four three four four चार हजार तीन सौ चवालीस आयत करीमा है व आतई दाऊद जबूरा और हमने हजरत दाऊद को जबूर अता फरमाए तो बात क्या चल रही थी कि अल्लाह ताला जिसके लिए चाहता है मुख्तसर वक्त को तवील कर देता है तो उस पर दलील ये बुखारी की दूसरी हदीस है अन अबी हुरैरत रदी अल्लाह अन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कौल हजरत अबू हुररा से रिवायत है रसूल सल्लाम ने शाद फरमाया खुफ अला दाऊद अल किरान फ़कान यमुर बिदाबती फ़कान यकरव कबल यफरुगा अल्लाह तबारक व तारा ने हजरत दाऊद पर जबूर पढ़ना इतना आसान कर दिया था कि आप हुक्म देते कि मेरी सवारी पर जीन कसी जाए जीन से मुराद क्या है वो बैठने की गद्दी होती है कि जिसको घोड़े पर बांधा जाता है तो कहा कि आप हुक्म देते कि मेरी सवारी पर जीन कसी जाए और अभी वो जीन कसने वाला जीन से फारिग ना होता आप पूरी जबूर शरीफ की तिलावत कर चुके होते ये बुखारी की हदीस है और इसे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है और हजरत अबू हुरेरा इसके रावी हैं तो अल्लाह ताला जिसके लिए चाहे वक्त को तवील फरमा दे और बरकतें अता फरमा इसी तरह बुखारी शरीफ किताबुल कद्र में यही हदीस कि हजूर ने तमाम मामला की खबर दी वो इन अल्फाज के साथ है और इसके रावी हजरत हजैफ़ा हैं इसका हवाला नोट कर लें बुखारी शरीफ किताबुल कदर हदीस का नंबर है सिक्स सिक्स जीरो फोर लकद खतबन नबी वसल्लम खुद बतन नबी अकम सल्लल्लाहु ने एक वास फरमाया माँ तारा कफिया शैन इला क्याम इल्ला जकर आपने क्यामत तक होने वाली हर हर चीज को बयान कर दिया किसी चीज को आपने छोड़ा नहीं अली महू मन अली महू जिसने जाना उसने जाना वह जाहिल हूं मन जाहिल हूं और जिसने तोज्जो न की वो जाहिल रहा इन कुन तो लारशैया कद नसी तो अब हजरत हुजैफा कहते हैं कि मुझे रसूलुल्लाह ने जब ये सारी खबरें हमें दे दी और हमने गौर से सुना था और जो रसूल्लाह का आशिक होगा वह रसूल्लाह का फरमान तो गौरी से सुनेगा तो कहा कि ऐसा होता है कि इंसान को किसी चीज़ का इल्म होता है लेकिन कभी कभी इंसान उस चीज़ को भूल जाता है या तवज्जो हट जाती है तो इन कुन तो लारशैया अगर मैं किसी चीज़ को देखता कद नसी तो जिसे मैं भूल चुका हूँ फ़ारिफू तो देखते ही मुझे याद आ जाता कि रसूलुल्लाह ने मुझे इसकी खबर दी है कमा यारिफ रजुल और रजुल इदा गाबान हो फ हो फारफ हो जैसे कि एक आदमी किसी आदमी को जानता है लेकिन उसकी तवज्जो उस आदमी की तरफ नहीं होती लेकिन जैसे ही वो आदमी उसके सामने आता है तो उसको शक्ल देखकर याद आ जाता है यार कि ये मैंने शक्ल देखी हुई है तो हजूर ने हमें एक एक वाकई ऐसी खबर दी कि जो वाकई सामने आता हमें याद आ जाता कि हमें रसूलुल्लाह ने इसकी खबर दी है और ऐसा क्यों ना हो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुतालिक कुरान ने फरमाया वमा हुआ अलल गईब बिदनीन ये नबी गैब बताने में बखील नहीं है यानी खजाने गैब के हैं और अपने खास साहबा कराम को वो खजाने अता फरमाते हैं जाम तिरमिजी किताब तफसर कुरान हदीस number three two three three तीन दो तीन तीन खाना रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इशाद फरमाया और इस हदीस के रावी हैं हजरत अब्दुल्ला बिन अब्बास मुफसर कुरान रसुल्ला ने फरमाया अतान लत रबी तबारक वाली फी आहसन सूरतिन गुज्त रात मुझे मेरे रब तबारक वाली का हसीन सूरत में दीदार हुआ फ़कौल या मोहम्मद हल तदरी फीमा यख्तसिमुल मलउल आला अल्लाह ताला ने फरमाया ए मोहम्मद ए हबीब सल्लल्लाहु अलैहि क्या आप जानते हैं कि मलाल मलाउल आला के फरिश्ते किस बात में बहस कर रहे हैं और कई सैकड़ों सालों से इनकी बहस किस मसले पर हो रही है कुल कुलतुल्ला मैंने कहा नहीं कौला रसूलुल्लाह फरमाते हैं फवदा यदहू बैना कतिफैया हत्ता वजत्तु बरदहा बीना सदयैया बस अल्लाह ने अपना दस्ते कुदरत मेरे दोनों कंधों के दरमियान रखा यहां तक के मैंने उसकी ठंडक अपने सीने में पाई फ़ालिम तो माफिल समावाती व माफिल अर्द तो उस तजल्ली की बरकत से आसमान और जमीन में जो कुछ है सबको मैंने जान लिया कौलया मोहम्मद हल तदरी फीम यख्तसिमला फिर पूछा क्या आप जानते हैं मलाउला के फरिश्ते किन मसाइल में बहस कर रहे हैं कुल तो नाम तो मैंने कहा हाँ मैं जानता हूं फिल कफारात वो इस चीज में बहस कर रहे हैं कि गुना हो जाए तो उसका कफारा क्या है यानी कौन से ऐसे अमाल हैं जिससे गुना मिटा दिए जाते हैं वल कफारात अलमुक्सु फिल मसाजिदी बादला तो कफारात यानी गुनाहों को मिटाने वाले जो काम है वो ये है नमाज पढ़ने के बाद भी मस्जिद में इतमान के साथ बैठना यानी नमाज आदमी पढ़ ले फिर फौरन मस्जिद से ना निकले बल्कि थोड़ी देर अल्लाह का जिक्र करे दुआ करे इतमान के साथ बैठे जैसे कि हदीस पाक में है कि जब तक बंदा नमाज के बाद बैठा रहता है उस वक्त तक फरिश्ते उसके लिए दुआ करते रहते हैं वल मशियों अकदामी इलल जमात और जमात को हासिल करने के लिए मस्जिद की तरफ चलना तो हर हर कदम पर उसके गुना मिटाए जाते हैं वह इस बागुल वदूई फिल मकारी ही मुश्किल के वक्त भी कामिल वजू करना ये गुनाहों को मिटा देता है वमन फ़ाला दालिक आश अभी खैरिन व मात अभी खैर जिसने ये काम किए तीन काम नमाज के बाद मस्जिद में थोड़ी देर ठहरना जमात के लिए कदम का उठाना और कामिल वजू हर हाल में करना वमन फ़ाला दालिक आश अब खैरिन व मात अभी खैर जिसने ये काम किया तो जिंदगी भी खैर से गुजरेगी और मौत भी खैर से आएगी वकाना मिन खतीयती ही कौमिन वालदत हो उम हो और उसके गुना ऐसे मिट जाएंगे जैसे वो आज ही दुनिया के अंदर आया है वकौला या मोहम्मद इदा सल्लता अल्लाह ताला ने फरमाया कि आप जब नमाज पढ़ें तो नमाज पढ़ने के बाद ये दुआ करें या नमाज के अंदर जब दुआएं मांगी जाती हैं तो ये दुआ पढ़ी जाए अतहियात और दुरुद पाक पढ़ने के बाद जहां हम दुआएं पढ़ते हैं उसमें ये दुआ भी पढ़ सकते हैं और नमाज के बाद भी ये दुआ पढ़ सकते हैं बड़ी अहम दुआ है अल्लाह ताला ने फरमाया कि आप ये दुआ मांगा करें अल्लाहनी असअलु खैरात अल्लाह मैं तुझसे नेकियां करने की तोफीक मांगता हूं व तरकल मुनकरात और गुनाहों से बचने पर साबित कदमी की तोफीक मांगता हूँ वह हब्बल मसाकिन और गरीबों से मोहब्बत मैं करूँ इसकी तोफीक मांगता हूँ वईदा अरत तब इबादी का फितना तन फ़कबिदनी इलई का गैर मफतून और जब फितने का दौर शुरू हो जब ईमान खतरे में पड़ जाए तो उससे पहले मुझे ईमान की सलामती के साथ उठा ले यानी ये दुआ हुजूर के वास्ते से हमें सिखाई गई तीन चीजों को मांगा गया फेल खैरात नेकियां करना तरकल मुनकरात बुराइयों को छोड़ना हुब्बल मसाकिन गरीबों की मोहब्बत और ये दुआ मांगी गई कि जब ईमान का खतरा पैदा हो तो ए अल्लाह उस दौर से बचा कि जिस दौर में ईमान बर्बाद हो जाए उससे पहले ईमान की सलामती के साथ उठा ले कौल अब तरजात फिर ये पूछा गया कि फरिश्ते और किस बात में बहस कर रहे हैं तो वो दराजात के बारे में बहस कर रहे हैं यानी कौन से अमाल हैं जिससे दर्जे बहुत बुलंद होते हैं इशा उस सलाम सलाम को आम करना व इत आम उत्तम और खाना खिलाना व सलात बिल्लईल रात में नमाज तहजद अदा करना व नासुनियाम उस हाल में कि लोग सो रहे हों तो तीन काम है जिससे दर्जात बहुत तेजी से बुलंद होते हैं सलाम को आम करना खाना खिलाना और नमाज तहजद अदा करना तो इस हदीस में जहां बहुत सारी चीजें हमें सीखने को मिली वहां ये अल्फाज भी हैं फ़ालिम तो माफिस समावत व माफिल अल्लाह की जब खास तजल्ली मेरे सीने पर आई तो मैंने ज़मीन और आसमान की सारी चीज़ों को जान लिया अल्लाह तबारक व हमें नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान समझने की तौफीक अता फरमाए और इसी अकीद सही पर हमें साबित कदमी अता फरमाए बद अकीदगी से बद अकीदा दोस्तों से बद अकीदा रिश्तेदारों से बद अकीदा सहबतों से महफिलों से बद अकीदा लोगों की तकारीर से उनके जलसों से अल्लाह ताला तमाम मुसलमानों को महफूज फरमाए और जो अल्लाह ताला ने अपने बंदों को कमालात और जो फजाइल अता किए हमें वो फजाइल तस्लीम करने की तोफ़ी अता फरमाए